और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का जायका चखाएं फिर हम उस रहमत को उससे वापस ले लें तो वो यकीनन निहायत मायूस बड़ा नाशुकरा हो जाता है